सोने का खजाना एक वक्त का किस्सा है दूर दराज मगरिक में एक फोर्ट लैंग्स के शहर में एक ड्रमर रहता था जिसका नाम था एंथनी वो अपनी बीवी रोज के साथ रहता था रोज और एंथनी को एक बच्चा होने वाला था और उन्हें अपने बच्चे के पैदा होने का बेसब्री से इंतजार था एक दिन जब रोज अपनी छत पर खड़ी थी गरूब होते सूरज को देखते हुए उसे महसूस हुआ कि सूरज का उजाला कितना खूबसूरत है ओ मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे में थोड़ी सी सूरज की चमक आ जाए ताकि उसका मुस्तकबिल सूरज की मानित उजला हो आखिरकार वो दिन आ पहुँचा कि एक सारस छत पर से उड़ता हुआ आया एक कपड़े की गठरी उठाए हुए और वो उस जोड़े के दरवाजे पर उतरा कपड़े का बंडल नीचे रखते हुए उसने अपनी चोंच से दरवाजा खटखटाया और उड़ गया एंथनी ने दरवाजा खोला और वो अपने बच्चे को देखकर बेइंतहा खुश हुआ बच्चे के बाल सोने की तरह थे गुरूब होते सूरज की चमक उसके ऊपर थी मेरा सोने का खजाना मेरी दौलत मेरी सुनहरी धूप हम इसका क्या नाम रखें? पीटर मेरे सोने के खजाने का नाम होगा पीटर पीटर ओ कितना मुनासिब है ये कहते हुए उस ड्रमर ने खुशी से ड्रम बजाया पीटर बड़ा होकर ऐसा लड़का बना जो जिंदगी और जिंदा दिली से भरा था उसके खूबसूरत लाल बाल थे वो शहर के सबसे खूबसूरत लड़कों में से एक था वो बहुत ही अच्छी तरह गा सकता था बाहर के परिंदों की तरह और फोर्ट लैंग्स में उससे अच्छी गिटार कोई नहीं बजाता था दुनिया इतनी हसीन है ये दुनिया ही हमारी है परिंदे बादल सूरज मेरा दिल और मसरत से भर देते हैं ओह मेरे सोने के खजाने की इतनी खूबसूरत आवाज है उसे एक ताजीदा बनाना चाहिए और बादशाह और बेगमों के महलों में गाना चाहिए बिल्कुल नहीं मेरा बेटा एक सिपाही बनेगा वो एक यूनिफॉर्म पहन सकता है एक बंदूक उठा सकता है और मार्च कर सकता है एक दो एक दो और रोज उसके बाल लाल हैं सुनहरे नहीं पर पीटर को अपने दिल में इसका इल्म था कि वो एक सिपाही से ज्यादा एक साजिंदा बनना चाहता है एक दिन ऐसा हुआ कि बेंजो जो शहर का एक साजिंदा था वो शहर के बाजार से गुजर रहा था जब उसने अचानक पीटर को गाते हुए सुना मुझे धूप बहुत पसंद है सूरज चमकीला है इसे बाअदब चमकने दो वो हमें जिंदगी और उम्मीद दे चलो नाचे गाए नाचे गाए नाचे गाए बेंजो पीटर का हुनर देखकर हक्का बक्का रह गया ओ जनाब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम पीटर है हुजूर पीटर सचमुच तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज है और जो तुम गिटार के साथ करते हो वो लाजवाब है तुम्हें एक साजिंदा बनना चाहिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी इज्जत अफजाई के लिए पर मुझे लगता है मुझे एक सिपाही बनना ज्यादा पसंद होगा एक सिपाही लाहौल वाला कुवत तुम कोई सिपाही नहीं हो क्या तुम देख नहीं रहे तुम्हारे पास इतना शानदार हुनर है तुम पूरी सल्तनत में सबसे उम्दा साजिंदा बन सकते हो फोर्ट लैंक्स की तो बात ही छोड़ो मेरे वालिद मुझे ऐसा नहीं करने देंगे ये कहकर पीटर ने अपना सिर नीचे झुका लिया और वो चला गया और बैंजो फिक्र जदा हो गया कई दिन गुजर गए जल्दी ही वो दिन आ गया जब पीटर को अपने वालिदेन को अलविदा कहना पड़ा अलविदा अब्बा अलविदा अम्मी ओ मेरे सोने के खजाने जल्दी वापस आना काश तुम बिना किसी नुकसान के वापस आओ और एक मेडल लेकर याद रखना इससे बढ़कर मुझे किसी चीज पर नाज नहीं होगा पीटर ने एक गहरी आह भरी और रुखसत हो गया पीटर ने अपने साथी सिपाहियों की तरह ही पदवी पाई जल्दी ही जंग शुरू हो गई और ये कई दिनों तक चली जल्द ही पीटर को यह एहसास हो गया कि जंग सिर्फ तबाही लाती है आखिरकार जंग खत्म हुई और सिपह सालारों ने अमन के मसौदे पर दस्तखत किए पीटर वापस आया ये कसम खाकर कि वो फिर कभी जंग में शरीक नहीं होगा ओह मेरे सोने के खजाने तुम वापस आ गए आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया अम्मी देखो मैं बिना किसी खरोच के वापस आ गया और मेडल और बिना मेडल के भी कोई बात नहीं मेरे बेटे मुझे उम्मीद है कि अगली जंग में तुम्हें ये मिल जाएगा अगला जंग नहीं होगा जंग सिर्फ तबाही और बर्बादी लाता है और मैं किसी ऐसी चीज में जो इतना गलत है कभी भी शरीक नहीं हो सकता कभी भी नहीं क्या तो फिर तुम क्या करने वाले हो मैं बनूंगा एक गुलूकार मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगा कभी नहीं मेरे सोने के खजाने को अब और परेशान मत करो उसने वो किया जो तुमने उसे करने को कहा था और फौज में शरीक हुआ और जंग में लड़ा अब उसे वो करने दो जो वो चाहता है शुक्रिया अम्मी खैर जो तुम्हारा जी चाहे करो बस ये जान लो कि मैं बहुत मायूस हुआ हूँ ये कहते हुए एंथनी वहाँ से चला गया पीटर मायूस था और उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी मेरे सोने के खजाने अपने अब्बा के मुतालिक फिक्र मत करो तुम बहुत खास हो तुम परेशान नहीं हो सकते आगे बढ़ो और वो करो जो तुम करना चाहते हो मैं तुम्हारे अब्बा से निपट लूंगी शुक्रिया अम्मी तुम सबसे अच्छी हो तो अगले ही दिन पीटर बैंजो के पास गया जो उसे देखकर खुश हो गया देखो तो कौन आया है हुनरमंद पीटर तुम तंदुरुस्त दुरुस्त आए हो तुमसे मिलकर अच्छा लगा बैंजो और तुमसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा पीटर मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो पीटर ने बैंजो को अपने जंग में तजुर्बों के बारे में तफसील से बताया और कैसे उसने कसम खाई कि वो दोबारा वापस नहीं जाएगा मेरे वालिद मेरे इस फैसले से खुश नहीं है पर मैं हमेशा यही तो करना चाहता था ना आखिरकार तुमने सही फैसला ले ही लिया हमें तुम्हारे नए शुरुआत का जश्न मनाना ही चाहिए लिंडा लिंडा बैंजो की बहन थी जो कमरे में दाखिल हुई और उसे देखकर पीटर हक्का बक्का रह गया पीटर ये मेरी बहन लिंडा है लिंडा ये पीटर पीटर और लिंडा ने एक दूसरे की जानिब देखा और मुस्कुराए लिंडा हम जश्न मनाना चाहते हैं क्या तुम मेहरबानी करके बावर्ची खाने से सबसे अच्छी मिठाइयाँ लाओगी बेशक भाई अगले कुछ दिनों तक पीटर अपनी गिटार बजाता और बैंजो के घर पर गाना गाता जब वजीर और दूसरे शाही मेहमान आते रहते हर कोई पीटर से मुतासर था खासकर लिंडा उसे उससे मोहब्बत हो गई थी और जल्दी ही वो दोनों इकट्ठे थे हाथों में हाथ लिए एक दूजे की मोहब्बत में मुत्तला जब बेंजो को इस बात का पता चला वो बहुत खुश हुआ मेरी बहन और मेरा सबसे अच्छा दोस्त इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए क्या होगी शुक्रिया बेंजो हम जल्दी ही निकाह करना चाहते हैं ओह ये तो बहुत उम्दा है पर मुझे लगता है कि तुम्हें रुकना पड़ेगा पीटर और लिंडा फिक्र जदा हो गए पर ऐसा क्यों बादशाह सलामत चाहते हैं कि तुम उनकी बेटी के निकाह पर बजाओ ये तो बहुत ही शानदार खबर है पीटर ने बैंजो का शुक्रिया अदा किया और जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि अब लिंडा कमरे में नहीं थी पीटर ये समझ गया कि वो परेशान थी पर बादशाह के लिए शाही सल्तनत में अपने फन का मुजाहिरा करना कुछ ऐसा था जो वो हमेशा से करना चाहता था वो घर वापस गया और अपनी वालिदा से सब कुछ बता दिया वो बहुत खुश हो गई और उसने उसके सफर के लिए लजीज पकवान बनाए वो उससे अलविदा कहकर निकल पड़ा पीटर ने शाही निकाह में बजाया और हर एक ने उसकी हौसला अफजाई की वो बहुत मशहूर हो गया बादशाह और बेगमें जो पड़ोस की सल्तनत से निकाह में आई थी वो चाहती थी कि उनकी सल्तनत में आकर भी वो बजाए पीटर ने हलीमी से उनकी फरमाइश कबूल की और जल्द ही वो एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में अपनी गिटार बजाते हुए और नगमे गाते हुए जाने लगा वो इतना मशहूर हो गया कि लोगों ने उसे खिताब दिया लाल बालों वाला साजिंदा पर मशहूरी और इज्जत अफजाई के बावजूद पीटर तरस रहा था अपने खानदान और लिंडा के लिए उस साल के आखिरी निकाह के बाद पीटर वापस फोर्ट लैंग्स के अपने सफर पर निकल पड़ा पूरे सफर के दौरान वो यही सोचता रहा कि आखिरकार उसने वो सब कैसे हासिल कर लिया जो वो हमेशा चाहता था जब वो घर पहुंचा उसे देखकर उसकी वालिदा चौंक गई और उसे गले लगा लिया ओह मेरे सोने के खजाने तुम वापस आ गए हाँ अम्मी मैं वापस आ गया और देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ पीटर ने वो बैग उसे दे दिया जिसे वो उठाए था वो इतना भारी था कि उसकी वालिदा को उसे नीचे रखना पड़ा खोलने से पहले जब उसने उसे खोला उसने पाया कि वो भरा था सोने और मोतियों से रूबीज और हीरों से वो चमक रहा था ओह, हम दौलतमंद हो गए हमारा बेटा हमारे लिए खजाना लेकर आया है एंथनी फिर से मुतासर नहीं था वो खामोशी से अपनी रॉकिंग चेयर में बैठा था खिड़की से बाहर देखते हुए पीटर उसकी तरफ चल कर गया और अपनी जेब से एक मेडल निकाला अब्बा ये आपके लिए है पता है मुझे चीन के बादशाह ने इससे नवाजा है एंथनी ने मेडल लिया और उसकी तरफ देखा जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे वो खड़ा हुआ और अपने बेटे को गले लगा लिया मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा रोज देखो मैंने कहा था ना ये मौसीकी में बहुत नाम कमाएगा तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो हंसने लगे <laughs> उसने लिंडा से निकाह किया और वहाँ एक शानदार दावत दी गई जहाँ रोज ने फैसला किया अपने बेटे के बारे में बोलने का मेरे बेटे ने अपने ख्वाबों का पीछा किया और हम सबको उस पर नाज है मुझे इससे बेहतर बेटा कहाँ मिला होता ये मेरा सोने का खजाना है <laughs> शुक्रिया अम्मी पर वक्त आ गया है कि कोई आपको ये बताए कि मेरे बाल लाल हैं सुनहरे नहीं ओ पीटर मैं अपनी पूरी जिंदगी यही कहता रहा ओह ये तुम्हारे बाल ही नहीं जो सुनहरे हैं मेरे बेटे ये तुम्हारा दिल है हाँ ये तुम्हारा खूबसूरत दिल है जो इतना खूबसूरत मौसकी पैदा करता है ये गुरूब होते हुए सूरज की दुआ है इसीलिए जब भी कभी तुम गाते हो ये दिलों को भर देता है और खुशी और सुकून भर देता है अम्मी आपने मुझे कभी ये क्यों नहीं बताया मैं क्या कहूँ मैं आखिर का इंतजार कर रही थी <laughs> <laughs> <laughs>